नौ संबोधन द्वितीय और नहीं बना था तृतीय राज्ञा बना था हाँ भ्याम आने पर है राजनगर भ्याम आने पर है क्या नहीं बता हो गया था राजनगर टा है अल्लोपन हो जाएगा तो सुनाचो क्या बन गया राजिया भ्याम अगर भ्याम राजन की पद संख्या के सूत्र से पद संख्या होने से राजन के नकार का लोप के सूत्र से न लोप प्रातिपदिकांत से लोप प्राप्त है न लोप सुप स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृति देखो नलोप प्रातिपादिक अंत से नलोप होने के बाद क्या रूप बनेगा राजभ्याम या राजभ्याम राजा या राजा सुपिच दीर्घ प्राप्त है अंग हो गया सुपिच से दीर्घ हो गया तो क्या रूप बनेगा दीर्घ होता है देखो सुपिच के दृष्टि से न लोप प्रातिपद ज्ञान तो श्रद्धा निकालना संख्या सुपिच का नंबर और न लोप प्रातिपद ज्ञान तो से तीन आठ नहीं कौन किसके दृष्टि से असिद्ध देखो सुपिच के दृष्टि से न लोप प्रातिपदिकांत तो सुपिच का क्या ना संख्या सात सपात सप्ताध्याय में आया और नलोप प्रातिपदिकांत त्रिपादी में है पूर्वता सिद्धम असिद्ध होने पर सुपिच से उपधा दीर्घ होगा दीर्घ होगा अदंत अंगों को क्योंकि नलोप असिद्ध हो जाएगा तो अदंत नहीं मिलेगा तो सुपिच से दीर्घ होगा नहीं होगा ये नलोप असिद्ध होने के कारण नलोप असिद्ध क्यों हुआ पूर्वोत्तरा सिद्धम ये सूत्र कहता है नलोप असिद्ध है सुप स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृति सुप विधि में स्वर विधि में संज्ञा विधि में और कृति तुग विधि में कृत प्रत्यय रहते हैं रस से पीति कृति तुक तुक होता है कृति तुक विधि के साथ संबंध सुप विधि हो स्वर विधि हो संज्ञा विधि हो और कृति तुग विधि हो नलोप सिद्ध होता है विधो स्वर विधो संज्ञा विधो कृति तुग विधो च नलोप हो पहले से ही नवलोप प्रसिद्ध था पुरोत्रा सिद्धम के कारण सुपिच आदि दृष्टि के असिद्ध है सुपिच दृष्टि से बहुवचन झल्लेत आदि अतभिषिस ये सब के दृष्टि से असिद्ध था असिद्ध होने पर भी फिर एक सूत्र बनाए महर्षि ने नवलोप असिद्ध है सिद्धे सत्य आरंभ नियमार्थ नियम करेगा जो पुरोत्रा सिद्धम सूत्र के द्वारा न लोप असिद्ध होता था न लोप के अंत सूत्र से न लोप जो है असिद्ध होता था वो असिद्ध इतने स्थान पर होगा अन्यत्र नहीं होगा सुविधि स्वर विधि संज्ञा विधि कृतित्व विधि पर ही असिद्ध होगा अन्यत्र असिद्ध नान्यत्र अन्यत्र न राज्य अश्व समास करेंगे राज्य अश्व राज्य क्या भी होती है ष्टी ष्ठी तत्पुरुष समास होता है जिस राज पुरुष राजपुरुष ये लौकिक विग्रह कहते राज्ञ पुरुष इति राजपुरुष ये विग्रह समास में बनाते हैं एक अलौकिक विग्रह लोक में प्रसिद्ध नहीं व्याकरण पढ़ने वाले करते हैं राज जो कहते हैं उसमें क्या है षष्ठी विभूति है राजन है प्रकृति और विभूति क्या है विभूति क्या है गस राजन गस आगे अश्व सु इसको कहते अलौकिक विग्रह क्या विग्रह हुआ राजन घस अश्व सु समास करेंगे षष्ठी सूत्र से समास होने के बाद कृतधित समासाश्च सूत्र से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा किसकी प्रातिपदिक संज्ञा मालूम है पूरा राजन गस पुरुष पूरा समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपद संज्ञान पर एक सूत्र आएगा सुप धातु प्रातिपदिक हो प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाएगा राम के आगे सु आता है वहाँ लुक नहीं होता है क्योंकि सु राम का अवयव है राम का अवयव है सु लोप नहीं होता किंतु यहाँ राजन गस पुरुष अश्व सु देखो ये प्रातिपदिक समुदाय है उसका अवयव कोई सुप है क्या है गस और सु प्रातिपदिक का अवय होने से सुपो धातु प्रातिपदिक है सूत्र से लूप हो जाएगा बाकी क्या बचेगा राजन अश्व और सूप का लो गश का लोप होने पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करे राजन की पद संज्ञा है पद संज्ञा है गश का लोप होने पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण यदि अंग कार्य करेंगे तो न लुभता से निषेध करा ये अंग कार्य नहीं न लोप प्रातिपदिकांत ये अंग कार्य नहीं तो नलोप यहाँ असिद्ध होता है नलोप प्रसिद्ध होगा तो राज अभिरस्व अकसवर्ण दीर्घ हो जाएगा अकसवर्ण दीर्घ ष्ठ अध्याय में है उसके दृष्टि से भी नलोप प्रातिपदिक अंत असिद्ध है असिद्ध होने से क्या होना चाहिए असिद्ध हो जाएगा तो बीच में न दिखेगा दिखेगा तो कसौन दीर्घ होगा नहीं होगा तो ये नियम कर दिया सूप विधि में असिद्ध होगा अन्यत्र असिद्ध नहीं होगा यहाँ सुपिचा से हम जो दीर्घ करेंगे ये सुपिचा अकस्मण दीर्घ करेंगे ये सुप विधि है सुप संबंधी विधि नहीं होने से यहाँ असिद्ध नहीं होगा असिद्ध हो जाता था न लोप प्रातिपदिकांत अकस्मण दीर्घ सूत्र की दृष्टि से असिद्ध है असिद्ध हो जाने पर अकसवन दीर्घ नहीं होना चाहिए किंतु ये सूत्र नियम सूत्र कर दिया सिद्धे सत्य आरम्भ नियमार्थ सुप विधि स्वर विधि संज्ञा विधि तुग विधि हो तो असिद्ध होगा अन्यत्र सिद्ध नहीं होगा अभी हम राज के आगे अश्व है क्या करना चाहते हैं दीर्घ करना चाहते दीर्घ कोई सुप नहीं स्वर नहीं संज्ञा नहीं इसलिए यहाँ असिद्ध नहीं होगा नलोप असिद्ध नहीं होगा ये सूत्र नहीं होता तो अकसमन दीर्घ सूत्र के दृष्टि से न लप प्रातिपदिक अंत से सूत्र असिद्ध हो तो दीर्घ नहीं होना चाहिए किंतु ये सूत्र नियम कर देने से ये सुप सौर संज्ञा तुग विधि में तो असिद्ध है अन्यत्र असिद्ध नहीं होगा इसलिए राजा समय अकस्मण दीर्घ हो जाएगा ना अन्यत्र अन्यत्र न यहाँ सुप स्वर संज्ञा तो विधि नहीं दीर्घ करना है इसलिए न नलोप असिद्ध होगा असिद्ध नहीं होगा तो सिद्ध होगा नलोप सिद्ध होगा तो राज में अ अस में अ अकस्मण दीर्घ हो जाएगा रूप क्या बन गया राजा बन गया ये तो असिद्धत्वा तभी नलोप शुभ ये तो अकस्मण दीर्घ करने के लिए तो असिद्ध नहीं हुआ किंतु आत्व एत्व ऐस्तम आत्व किस सूत्र से होता है सुपिच से दीर्घ होगा तो अव का आ हो जाएगा आत्व के बाद एत्व किस किससे होता है बहुवचन झलित और आगे अस्तम अतो क्या सूत्र तो आत्वम एत्वम अस्तम तीनों ही नहीं होगा क्योंकि शुभ विधि शुभ संबंध विधि शुभ पर रहते आत्व आदि होता है नहीं होगा इसलिए राजन भ्याम के आगे न लोप होगा किस सूत्र से आगे सुपिच से दीर्घ होगा रूप क्या बनेगा हैं राजा कोई बोलते हैं राजाभ्याम राजा नहीं क्या बनेगा भीष में अतो भीष ऐसे लगेगा भ्यस में क्या बनेगा बहुवचन जलित लगेगा नहीं लगेगा चतुर्थ में क्या बनेगा राज्य आगे राजभ्याम राजा कोई कहते चतुर्थी बोलो राज्ञे इति आगे आगे ये सब भ संज्ञा यशिवम अल्लोपन से अलोप हो जाएगा चुत्त हो जाएगा बोलो फिर राज्य राज्य राज्य नूट किस सूत्र से हुआ नहीं हुआ नौ कहाँ से आया है राजन का न राजन का न है उसका लोप हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ न लोप से लोप क्यों नहीं हुआ पद क्यों नहीं शादी शासन स्थान से पद नहीं गया हाँ हलादि में होता है अजादि में पद संज्ञा भ संज्ञा होगी अल्लोपन लगेगा हैं हाँ, डरते डरते लगेगा क्या लगेगा सूत्र होगा ष्टी बोलो राज्य हाँ सप्तमी में राजनगरंगी अल्लोपन प्राप्त है वहाँ क्या सूत्र लगेगा हैं नंगी समुद्र हो हैं विभाषांगिश्यो सूत्र पहले आया है क्या सूत्र घी में विकल्प से लोप होगा एक पक्ष में लोप होगा तो रूप बनेगा राजी लोप होगा तो क्या बनेगा हैं लोप नहीं होगा तो राजनी दो रूप बने राजी राजनी वो समय कितने रूप बनेगा क्या रूप बनेगा और सप्तमी बहुचन में राजसु न लोप होगा हाँ, किस सूत्र से और बहुवचन जलेत आदेश प्रत्यय हो राजसु बोलो विश्व से राजा आगे क्या शब्द है यज्वन क्या शब्द है यज्वन नकारांत है सुवर्ण पर उपदाधिक के सूत्र से होगा और सुकालोप किसे नलोप प्रातिबंधिया से नलोप होगा क्या रूप बनेगा आगे बोलो यज्वा एक वचन में तेरी दीर्घ पाया संबुद्धि में क्या रूप बना हे यजमान दिवचन में संबोधन में दीर्घ होगा क्या बनेगा आगे द्वितीय में यहाँ यजमान होने के बाद सस आने पर भ संज्ञा है किस सूत्र से अल्लोप न प्राप्त है प्राप्त है उसका निषेध करेगा न संयुगात ममंतात कितने पद है तीन वनमंत संयोगाद अन्नोकार से लोपन व अंत में हो अथवा म अंत में हो तो वमंत हो गया अंत में क्या चाहिए वम या मम व अथवा म दोनों मिल करके नहीं वमन तो मिला करके दे दिया वकारांत हो था तो मकारांत हो संयोग हो अन्न अकार से लोप अन्न के अकार का लोप प्राप्त था क्या किसे उसका निषेध कर देगा किंतु संयोग के कांत में व अथवा यजमान में संयोग है क्या किस किस वर्ण में अंत में क्या है हैं वह है संयोग का अंत में व है न है संयोग किस किस वर्ण में संयोग है ज और व आदि वर्ण क्या है अंत वर्ण क्या है तो संयोग के अंत में क्या है वांत है वांत संयोग है तो न ममता ममतात् वहाँ लगेगा लगेगा तो अल्लोपन हो जाएगा ये निषेध कर देगा अल्लोपन नहीं होगा तो सस में क्या बनेगा यजवन क्या बनेगा जहाँ जहाँ अल्लोपन लगता था भ संज्ञा टांगे गसी में सर्वत्र निषेध कर देगा तो अल्लोपन नहीं होगा तो क्या बनेगा तृतीया में यज्वना यज बोलो तृतीया बोलो यज्वना हाँ बोलो हाँ पुस्तक नहीं देखो बोलो जोर से बोलो अरे प्रथम विभूति एक रूप है प्रथम विभूति एक रूप होता है कि वजन वजन वजन है बोलो जोर से बोलो सब सुनेंगे यज्ञा क्या है प्रातिपदिक क्या है यजवन बोलो हैं ये नहीं य य बोलो ये नहीं यज्वन ये नहीं यज्वन हाँ यदि यदि को क्या कहेंगे यदि कोई एधते को कहेंगे यधते यधेते यधनते और यज जब आएगा तो बोलेंगे एजति एजत एजंती यज को य को कहेंगे ए कुछ कुछ लोग य को क्या कहेंगे ए और ए को कहेंगे यह बोला बना यदि यजवन यजवन बोला य य बोलो क्या बोलो हाँ ऐसे यजवन हाँ यजवा बोलो यजवा है कोई बोलने वाले चतुर्थ में क्या बोला यजवे बनेगा क्या बनेगा सुब्रत हैं यज्ञ ने आगे चतुर्थ में भी होता है पंचमी हाँ, बोलो नहीं ओ क्या यजुआ दीर्घ होता है यज्वान हाँ हाँ ष्टी बोलो हाँ सप्तमी हाँ न न रहेगा क्या बनेगा यज सप्तमी एक वचन कितने बनेगा दो नहीं बनेगा हाँ बोलो सब बोलो 一句话。 तृतीया बोलो यज्जो पंचमी बोलो हाँ सप्तमी यज्वानी दीर्घ है ना नहीं यज्वा में दीर्घ होगा ना नहीं होगा नहीं होगा तो क्या बनेगा यज्वनी यज्व से आगे ब्राह्मण शब्द है क्या शब्द है ब्राह्मण नकारांत है पुलिंग में बनता है तो ब्रह्मा बनेगा ब्रह्मा जो चतुर्मुख है नपुंसक ही बनता है शुद्ध ब्रह्म के लिए ये पुलिंग में उपदा दीर्घ होगा सुहाने पर हलिंगा पर उपदाद्रिक होगा नलप होगा नलप का निषेध कौन करेगा नलप हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा ब्रह्मा बनेगा आगे औ में क्या बनेगा उपदा दीर्घ होगा ब्रह्मा टावर्ग न या टावर्ग न टावर्ग ब्र में र है र के आगे क्या बनना है अ अ के आगे ह के आगे ह अट में आएगा म है पवर्ग में आ गया आगे है नकार को तो हो जाएगा किस सूत्र से तो ब्रह्मांड क्या बनेगा उपता दीर्घ होगा जस में ब्रह्मांड संबोधन में हे हे ब्रह्मन हे द्वितीय ब्रह्माणम बहुवचन में उपदादीर्घ होगा क्या रूप बनेगा यहाँ अल्लोपन सूत्र लगेगा अल्लोपन प्राप्त है लगेगा नहीं प्राप्त है लगेगा निषेध कौन करेगा यहाँ संयोग है क्या किस किस वर्ण में संयोग है अंत में म है तो अल्लोपन लगेगा तो क्या रूप बनेगा ब्राह्मण तृतीया में भ्या में नकार का लोप होगा सुपीच से दीर्घ राजन जैसे बनेगा सुर से बोलो ब्रह्मा ब्रह्म भ्रूण वृत्र से कुप हन धातु से कुप होता है वृत्र उपपद रहते वृत्रहन कौन है मालूम है वृत्रासुर को मानने वाला कौन है इंद्र क्या प्रतिपदिक है वृत्रहन के आगे सुहाएगा सुहाने के बाद वृत्रहन को न उपधा दीर्घ किस सूत्र से प्राप्त है सर्वनाम स्थान है वृत्तरण शब्द हाँ समझ कर बोलना वृत्तरण शब्द सर्वनाम स्थान है सर्वनाम है सर्वनाम स्थान है या नहीं हैं सर्वनाम स्थान कौन है सु हैं हाँ सर्वनाम स्थान पर रहते का किस सूत्र से प्राप्त है हाँ इसके लिए एक सूत्र इन हन पुषार्यमणांग सौ ऐसा सवेवोपधाया दीर्घो नान्यत्र इन हन पूषण और अर्यमन इन हन पूषण अर्यमन अर्यमन का पूषण अर्यमन पूषार्यमन अर्यमणाम में अल्लोपन से अकार का लोप हो गया अर्यमणाम कहाँ का रूपये सौ सौ कहाँ का रूपये किसका सु का सी सी क्या चीज है हैं सु का सी क्या चाहिए कहाँ से सी आता है सी कहाँ है सुप्रत्यार में क्या सी है सो जस अमोट से सी आता है जस असो सी जस अस को जो सी होता है उसका सप्तमी सौ बनेगा अच्छा जस अस को जो सी होता है वो सर्वनाम स्थान है क्या किस सूत्र से यदि सर्वनाम स्थान है वहाँ उपदा दीर्घ प्राप्त था किस सूत्र से सर्वनाम स्थान चार संभव उसी कहाँ होता है स्त्रीलिंग या पुलिंग में सिंह होता है सर्वनाम स्थान है सी उपाध्याय दीर्घ प्राप्त था ये सूत्र नहीं रहेगा तो सी पर रहते उपदा दीर्घ हो जाएगा सिद्धे सत्य आरंभ नियमार्थ जो सी पर रहते उपदा दीर्घ प्राप्त सिद्ध था उसके लिए भी सूत्र बनाया क्या करने के लिए नियम करने के लिए सी पर रहते ही उपता दीर्घ होगा अन्यत्र नहीं होगा सर्वनाम स्थान होने पर भी अन्यत्र सुजस में उपता दीर्घ सी पर रहते हो जाएगा हाँ ऐसा सावेव उपधाया दीर्घ सावेव उपधाया इसमें कितने पद है कितने पद प्रश्न करेंगे तो संख्या बताना तीन है सौ एव उपता सी पर रहते ही उपता दीर्घ होगा अन्यत्र नहीं अन्यत्र ये कहाँ से आया एवकार देने से एवकार क्यों हुआ नियम सूत्र नियम करता है नियम क्यों हुआ शी सर्वनाम स्थान है वहाँ उपदा दीर्घ प्राप्त था किस सूत्र से जो सिद्ध है उसके लिए यदि कहा जाता है नियम करने के लिए नियम करने से अन्यत्र नहीं होगा अभी सु आया वृत्र क्या के सु यहाँ तो उपदा दीर्घ प्राप्त किस सूत्र से था अभी इंधन प्रसार मानव सौ से उपधा दीर्घ हो जाएगा नहीं होगा सी पर रह तो यहाँ उपधा दीर्घ नहीं होगा इतने निषेध प्राप्ति किसका निषेध प्राप्त हुआ उपधा दीर्घ का निषेध प्राप्त होने पर और एक सूत्र शौच इन्नादीनाम उपधाया दीर्घो संबुद्ध सौ नाम दो नकार कहाँ से आएगा हर्षण व्यापन तो हाँ गम हर्षा दसी गम इन आदि नाम इन हन पुषण सब सबका उपथा दीर्घ हो जाएगा जो इन हन हन पुषार्यमणाम सब सूत्र के द्वारा नियम हो के निषेध हो गया था वहाँ ये सूत्र कहेगा दीर्घ हो जाएगा असंभुत सौ शौच सुपर रहते सुसंबुद्धि में आता है क्या संबुद्धि में सौ आता है और क्या आता है औजस आता है समबुद्धि में नहीं आता समबुद्धि केवल सु है तो समबुद्धि पर रहते ये सूत्र तो लगेगा असंबुद्धि सु पर लगेगा संबुद्धि बिना सु पर संबुद्धि से बिना सु कोई है कहाँ है प्रथम होती संबुद्धि नहीं है सु है और संबुद्धि में सु है हाँ तो ये दोनों स्थान लग जाएगा प्रथम एक विभोजन लग जाएगा दीर्घ हो जाएगा उपधा दीर्घ हो तो क्या बनेगा वृत्रहान क्या बनेगा नल का लोप किस सूत्र से होगा क्या रूप बनेगा हे वृत्र हे नहीं वृत्र क्या बनेगा ये स्त्रीलिंग है पुलिंग है जैसे राजा ऐसे वृत्र आकार दे करके रमा जैसे नहीं क्या बनेगा वृत्र हा प्रातिपद क्या है अच्छा संबुद्धि जब आएगा वृत्रहन अगर सु तो सर्वनाम स्थान से असंबुद्धों से उपदा दीर्घ हो जाएगा क्यों नहीं होगा असंबुद्धि और नियम हो गया सौ शौच से दीर्घ हो जाएगा ये कहता असंबुद्धि से ऊपर है तो संबुद्धि आने पर उपदा दीर्घ किस सूत्र से होगा नहीं होगा तो क्या रहेगा वृत्त रहन सु का हलंग आप लोप हो जाएगा हैं और नकार का लोप किसे प्राप्त है न लोप अंत से उसको निषेध करने वाला कोई सूत्र है नंगी संबुद्धि हो संबुद्धि है नल निषेध हो जाएगा तो नल का श्रवण होगा क्या रूप बनेगा हे वृत्रहन कहाँ के रूप बना माने पर वृत्रहन अग्रे औ वृत्रहन अग्रे औ को किस सूत्र से होगा प्राप्त किससे था सर्वनाम स्थान चार समुद्र से प्राप्त था क्यों नहीं होगा नियम हो गया सी पर रहते होगा औ में होगा जस में होगा जस में कहाँ होगा नपुंसक में अभी पुलिंग अभी जस में होगा सस में होगा आउट में होगा अम में हैं नहीं होगा तो वृत्रहन अग्र औ वृत्रहन अग्र औ उपदादि का किस सूत्र से करना नहीं होगा सीधा मिल जाएगा किंतु एक सूत्र है न तो करने के लिए एकाजुत्तर पदे न एकाज उत्तर पदम यस्य तस्मिन समासे पूर्वपदस्था निमित्तात्पर प्रातिपदिकान्तनुम विभक्तिस्थस्य नस्य न एकाच उत्तरपदे एकाच उत्तर पदम यस्य जिस समास में उत्तर पद एक हो एक अच वाला हो समास के चरम अवयव को उत्तर पद कहते हैं राज पुरुष है में उत्तर पद है पुरुष वृत्रहन में हन है उत्तर पद तस्मिन समासे पूर्व पदस्थान निमित्तात परस्य पूर्व पद में स्थित जो निमित्त अनत्व करने के लिए निमित्त क्या मालूम है क्या है र और स वृत्र में रह या स है पूर्व पदस्थान निमित्त से पर प्रातिपदिकांत नुम विभत्ति तस्य वृत्रहन में जो नकार है ये प्रातिपदिकांत है हैं और नुम का है विभत्ति का है नहीं प्रातिपदिकांत नकार होने से उसको न हो जाएगा न होने पर क्या रूप बनेगा वृत्र हणव क्या बनेगा जस में क्या बनेगा वृत्र है ना संबुद्धि में क्या बनेगा हे है द्वितीय हाँ यहाँ रूप बनेगा ओम नेतावसाने